प्यारे बेटे अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर हो फिर वो भी खा किसी चटान में हो या आसमानों में हो या जमीन में हो उसे अल्लाह ताला जरूर लाएगा अल्लाह ताला बड़ा बारीक बीन और खबरदार है